और अगर अल्लाह भी लोगों को नुकसान पहुंचाने में ऐसे ही जल्दी फरमाता जैसे वो भलाई के लिए जल्दबाजी करते हैं तो उनकी उम्र की मियाद जरूर पूरी हो चुकी होती लिहाजा हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते ताकि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें